हजरत मुआविया रजी अल्लाह तु ने फरमाया ए लोगो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जाली बाल लगाने से मना फरमाया है फिर आप एक स्याह रंग का कपड़ा लाए और लोगों के सामने फेंका और फरमाया यह है वो जालसाजी औरत इसे अपने बालों में लगाती है फिर ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेती है सुनन नसाई हदीस नंबर पांच हजार दो सौ उनचास